सर्वरक्षक सर्वदा रक्षक सर्वथा रक्षक परमात्मा ओम का उच्चारण प्रेमी सज्जनों आर्य अभिविनय के प्रथम प्रकाश का सैतालीसवां मंत्र हम आर्यों के लिए भावना बनाने के लिए सामने उपस्थित है मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई सा मां सत्योक्ति ही परिपातु विश्वत सा सत्योक्ति वह सत्य का कथन सत्य की उक्ति मां विश्वतः परिपातु मुझे सब ओर से सब जगह भली प्रकार से रक्षित करें सत्योक्ति महर्षि ने अर्थ किया परमात्मा का जो उपदेश वेद है वो सत्योक्ति है जो परमात्मा की सत्य आज्ञा है परमात्मा की हर आज्ञा सत्य ही होती है और परमात्मा की आज्ञा वेद में हमें प्राप्त है परमात्मा की वो आज्ञा वेद वचन मां विश्वतः परिपातु मेरी सब ओर से रक्षा करे ये जितनी भी प्रार्थनाएं हैं कामनाएं हैं हे परमात्मा ऐसा होवे इस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए परमात्मा ही वेद में हमें आदेश दे रहा है ये जो प्रार्थना का स्वरूप है ये भी परमात्मा के द्वारा निर्धारित किया गया है आर्यों को कहा गया है मनुष्यों को कहा गया है कि तुम ऐसी प्रार्थना करो जितनी भी प्रार्थना है वो प्रार्थनाएं उसी रूप में वैसी संभव है प्रार्थना जिसके लिए की जा रही है जिस चीज की प्राप्ति के लिए की जा रही है वो चीज वैसी ही संभव है होती है इसलिए ये प्रार्थना है यदि ये प्रार्थना केवल प्रार्थना के लिए हो वैसा होता ना हो तो प्रार्थना व्यर्थ है और वो सत्योक्ति में भी नहीं आएगी लेकिन परमात्मा की जितनी भी आज्ञाएं हैं वेद में लिखी हैं चाहे प्रार्थना करने की आज्ञा है वो सब होती हैं वैसी तो परमात्मा से प्रार्थना है कि आपकी सत्य आज्ञा मेरी रक्षा करें आपकी सत्योक्ति मेरी रक्षा करे तो इसका सीधा अर्थ है निश्चित अर्थ है कि परमात्मा की आज्ञा परमात्मा की सत्योक्ति हमारी रक्षा करती है परमात्मा की सत्योक्ति वेद में विद्यमान है परमात्मा की प्रेरणाएं हमारे हृदय में भी होती रहती हैं और वो सबके लिए विद्यमान है वो सत्योक्ति मात्र सत्योक्ति होने से वो विद्यमान है इतने मात्र से हमारी रक्षा नहीं कर देती इसलिए महर्षि ने लिखा इसको आपकी सत्य आज्ञा कौन सी सत्य आज्ञा जिसका हमने अनुष्ठान किया है आपकी आज्ञा को जब हमने पालन किया तो वो आपकी आज्ञा उस आज्ञा का पालन आपकी आज्ञा के अनुरूप चलना ये सदैव हमारी सब ओर से पूर्णतः रक्षा करता है दूसरे शब्दों में परमात्मा की किसी आज्ञा का पालन कभी भी हमारी हानि नहीं करता परमात्मा ने वेद में जो जो भी लिखा है जो जो भी लिखा है जो जो भी आदेश दिया है वह सब मात्र हमारी रक्षा के लिए है उससे मात्र हमारी रक्षा होती है उससे कभी हमारी हानि नहीं होती है यदि परमात्मा की उस सत्य उक्ति को परमात्मा के उस आदेश को आज्ञा को तदन रूप पालन किया जाए ये एक विश्वास किसी व्यक्ति के मन में हो किसी आर्य के मन में हो तो वो वेद की आज्ञा से इधर उधर कभी नहीं होगा आर्य या कोई भी सज्जन व्यक्ति वेद को मानने वाला ईश्वर को मानने वाला जब जब भी जहां भी कोई भी व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा से भिन्न कार्य करता है जब जब भी करता है तब तब उसकी कुछ न कुछ हानि होती है हानि की संभावना रहती है और जिसको ये पता है कि ईश्वर की आज्ञा यह है निश्चित है शब्द से पता है उसे पढ़ के सुन के ज्ञात हो चुका है कि ईश्वर की यह आज्ञा है उसके बाद भी वो उसके पालन के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा होता है प्रयत्न नहीं कर रहा होता है प्रयत्न करने की कोई योजना उसके मन में नहीं होती है कोई इच्छा नहीं होती है और उसके विपरीत वो कुछ करता है विपरीत योजना रखता है विपरीत इच्छा रखता है तो इसका सीधा अर्थ ये है कि उस व्यक्ति में ईश्वर के प्रति पूरा विश्वास नहीं है वो ये नहीं स्वीकार कर पा रहा है कि सा मा सत्योक्ति परिपातु विश्वतः परमात्मा की आज्ञा मुझे पूरी तरह सर्वत्र रक्षित करेगी ये उसको विश्वास नहीं है ये भाव उस आर्य के मन में अभी पूरी तरह नहीं आया वो ईश्वर की बहुत सी आज्ञाओं का पालन भी करता है जितने अंशों में पालन करता है उतना उसके मन में ये भाव है कि इससे मेरी रक्षा होगी नहीं तो उतनी उतनी कमी उस आर्य में है तो इस आर्य अभिविनय में इस मंत्र को देते हुए महर्षि दयानंद कहना चाहते हैं ये आर्यों को ये भावना रखनी है ये हमारा कर्तव्य है हम इस स्तर पर अपने को पहुंचा दें कि ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा हमें रक्षा करने वाली ही लगे उसमें हमें कोई भी हानि प्रतीत ना हो हम कोई भी हानि ना माने ऐसी समझ हमें वेद के मंत्रों और ईश्वर की अच्छा के प्रति बनानी होगी तो सामा सत्योक्ति परिपात विश्वतः कहां कहां पालन करे वो हमारी यत्र द्यावा जहां ये द्व्यूलोक है प्रकाशित लोक है कहीं भी मात्र यही नहीं कहीं भी इस ब्रह्मांड में यत्र ततनत अहानी और जहां पर ये दिन रात फैले हुए हैं जहां भी फैले हुए हैं अब जहां जहां त्रिलोक है जहां जहां पृथ्वी लोक आदि लोक है वहां दिन और रात तो रहते ही हैं क्योंकि सब घूम रहे हैं ऐसा कौन सा लोक है जहां कभी भी दिन और रात नहीं होता छोटा या बड़ा दिन और रात होता रहेगा उस उस ग्रह के दिन और रात उतने उतने समय के भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन दिन और रात रहेंगे यानी सर्वत्र जहां जहां द्व्यूलोक है प्रकाशमान लोक है जहां जहां दिन रात हो रहे हैं फैले हुए हैं पूरे विस्तार दूर दूर तक सब और वहां सब जगह आपकी ये सत्योक्ति आपके द्वारा दिया गया आदेश जिसका मैंने पालन किया है वो मेरी सब जगह रक्षा करे इस पृथ्वी पर रहते हुए जो मैंने आपकी आज्ञाओं का पालन किया है वो कर्म मेरा उससे बना मेरा कर्माशय वो यही नहीं इस धरती पर जहां भी मैं जाऊंगा वहां सब जगह मेरी रक्षा करेगा क्योंकि आपकी रक्षा और आप सदैव विद्यमान है वहां और इस पृथ्वी ही नहीं अगर किसी अन्य लोक लोकांतर में मेरा जन्म होता है वहां भी ये मेरा किया हुआ ये जो आपकी आज्ञा के अनुसार आचरण किया है ये वहां भी सर्वत्र मेरी रक्षा करेगा मेरी रक्षा करे वो रक्षा करता है वो कहीं भी व्यर्थ नहीं होता इस संसार में यदि हम एक घर बनाते हैं बड़ी मेहनत करके छोटा सा वो हमारी रक्षा केवल वहीं कर सकता है उस स्थान को छोड़ के हम कहीं जाएंगे तो वो घर रक्षा नहीं करेगा अन्य सब साधन जहां होंगे वहीं रक्षा कर सकते हैं अन्यत्र नहीं अन्य हमारे सहयोगी वहीं रक्षा कर सकते हैं जहां वे हैं धन को लेके हम जहां जहां घूमेंगे वहां वहां वो हमारी रक्षा करता है हम कुछ ले सकते हैं उससे लेकिन धन साथ में लेके चलना होता है यहां हमें अपना कोई कर्म कर्माशय साथ में लेते हुए बोझ के रूप में कुछ नहीं लेके चलना होता हमने ईश्वर की आज्ञा का पालन कर दिया बस अब आगे ईश्वर की चिंता है वो सारा कुछ भी जहां हम जाएंगे वहां वो उपलब्ध कराएगा वो रक्षा करेगा हमारी एक श्लोक आता है वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महारणवे पर्वत मस्तके सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम व रक्षंति पुण्यानि पुण्यानि पुराकृता जो हमारे पहले किए हुए पुण्य कर्म हैं ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप जो जो हमने किया है वो सब जगह रक्षा करता है कहां कहां वने वन में भी रक्षा करता है रणे युद्ध में भी रक्षा करता है शत्रु जलाग्नि मध्य शत्रुओं के बीच में फंस जाए वहां भी वो रक्षा करता है जल में कहीं फंस जाए वहां भी रक्षा करता है अग्नि में कहीं फंस जाए वहां भी रक्षा करता है वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महारणवे महान समुद्र के अंदर कहीं फंस जाए वहां भी रक्षा करता है महारणवे पर्वत मस्तक है हम पर्वत की चोटी पर गए हैं वहां भी वो पुण्य कर्मा से हमारी रक्षा करते हैं सुप्तम सोते हुए भी वो हमारी रक्षा करता है प्रमत्तम जिस समय हम प्रमाद की स्थिति में होते हैं जागरूक नहीं होते वहां भी ये पुण्य हमारी रक्षा करता है सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम व अन्य किसी भी विषम परिस्थिति में हम पहुंच जाए हमारे पुण्य हमारी रक्षा करते हैं सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम व रक्षंती पुण्यानी पूरा कृतानी कैसे रक्षा कर देते हैं वो किसकी व्यवस्था से वो हमारी रक्षा करते हैं सामा सत्योक्ति परिपातु विश्वता ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप जो हमने आचरण किया है वो सर्वत्र हमारी रक्षा करता है जहां जहां दिन रात है जहां जहां कोई लोक है सब जगह वो हमारी रक्षा के लिए सदैव विद्यमान है आर्य कोई विश्वास रहता है कि मैंने जो पुण्य कार्य किया वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा दुनिया उसका प्रतिफल दे या ना दे कम दे कोई चिंता नहीं है ईश्वर की तरफ से ये व्यवस्था सदैव विद्यमान है ये उसका व्रत है वो करता ही है अगली पंक्ति में कहा विश्वम अन्यत निविशते यदे जति अन्यत आपसे भिन्न जो है ये प्रकृति उस सारी की सारी जब निविशते जब नित्राम प्रविष्ट हो जाती है अपनी स्थिति में प्राकृतिक स्थिति में स्वरूप में यानी प्रलयावस्था कोई गति नहीं होती बिल्कुल शांत हो जाती है साम्यवस्था हो जाती है तब भी यदे जति और जब वो चलायमान होती है जब ये सृष्टि बनी हुई है तब भी आपकी सत्योक्ति उसका किया गया मेरा आचरण सदैव रक्षा करे सदैव रक्षा करता है महर्षि ने यहां पर एक बात लिखी आपसे अन्य भिन्न विश्व अर्थात समस्त जगत जिस समय आपके सामर्थ्य से प्रलय में प्रवेश करता है परमात्मा ने ही प्रलय बनाई है कार्य सब कारणात्मक होता है उस समय भी आप हमारी रक्षा करो उस समय भी ईश्वर हमारी रक्षा करता है केवल जब ये जगत चल रहा होता है तभी नहीं प्रलयावस्था में भी वो हमारी रक्षा करता है उस समय भी उसकी रक्षाएं हमारे लिए विद्यमान है और वो रक्षा कर रहा है एक प्रश्न पिछली वैदिक आध्यात्मिक न्यास की जो गोष्ठी अजमेर में हुई थी सम्मेलन था उसमें एक प्रश्न था कि ये सारा ब्रह्मांड पूरा लोक लोकांतर एक साथ ही प्रलय को प्राप्त होते हैं या कभी कभी एक खंड में होते रहते हैं एक साथ प्रलय को प्राप्त होते हैं उसके प्रति दूसरे पक्ष का एक प्रश्न रहता है आक्षेप रहता है कि यदि सब प्रलय में चले जाएंगे सब लोक लोकांतर तो उस समय परमात्मा क्या करेगा जबकि परमात्मा को सदैव क्रियाशील सदैव कुछ न कुछ करने वाला कहा गया है इसलिए हमें मानना चाहिए कि खंड प्रलय कभी यहां प्रलय हुई है लेकिन दूसरी जगह जीवन चल रहा है वहां प्रलय हुई है कहीं और चल रहा है कहीं ना कहीं चल रहा है तभी तो परमात्मा को कहेंगे नहीं तो परमात्मा तो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा वो क्या करता है फिर प्रलय में वो तो निठल्ला हो जाएगा कि परमात्मा पे आक्षेप लगेगा इसलिए एक साथ प्रलय नहीं माननी चाहिए एक हेतु था परोपकारी में भी ये शंका आई थी उसका समाधान भी परोपकारी में दिया था ये महर्षि के वचन से स्पष्ट है प्रलय में भी वो हमारी रक्षा करता है परमात्मा निष्क्रिय वहां पर भी नहीं है वो सृष्टि को नहीं बना रहा है सृष्टि को नहीं चला रहा है लेकिन प्रलय अवस्था में भी वो हमारी रक्षा कर रहा है महर्षि का वचन स्पष्ट है यद्यपि प्रलय काल में मुक्तात्माओं के लिए भी वो सदैव आनंद प्रदान कर रहा है निष्क्रिय वहां भी नहीं है बद्धात्माओं की के लिए प्रलय अवस्था चल रही है मुक्तात्माओं के लिए तो सदा एक रस स्थिति बनी है निष्क्रिय तब भी नहीं है लेकिन जो प्रलयबद्ध प्रलय अवस्था में आत्मा है उनकी भी परमात्मा रक्षा कर रहा है रक्षा कई तरह से होती है हमने पिछली सृष्टि में जो भी किया जो हमारे संस्कार थे जो हमारा कर्माशय था प्रलय अवस्था में उसकी रक्षा कौन करता है कैसे प्रलय के बाद में जब पुनः सृष्टि होती है तब हमें वो के वो कर्माशय वो के वो संस्कार यथावत बिना फेर बदल के प्राप्त होते हैं हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होता उनकी रक्षा किसने की है परमात्मा ने की और प्रलय अवस्था में आत्मा सुप्त अवस्था में या तो मूर्छित अवस्था में है वैसे कुछ नहीं कर रहा है लेकिन उसकी कोई हानि भी नहीं कर सकता उसको कोई दूसरा जन्म नहीं दे सकता वो परमात्मा की सुरक्षा में पूरी तरह सुरक्षित है उसकी कोई हानि नहीं हो सकती हानि न होना यह भी एक सुरक्षा है तो परमात्मा की सुरक्षा प्रलय अवस्था में भी है विश्वम अन्य निविशते यद ए जति यानी हर समय हर क्षण परमात्मा की रक्षा हमारे लिए विद्यमान है वो करता है और उसकी आज्ञाओं का पालन हमारी कभी हानि नहीं करता और आगे परमात्मा के लिए कहा विश्वाहापह जो इस समस्त विश्व को बहुत लोगों को मारते हैं उनकी हानि करते हैं उनसे भी आप रक्षा करते हो हमारी जो हमारी हानि करते हैं उनसे भी आप रक्षा करते हो उनका आप रोकते हो आप अपने नियम के अनुसार जो जिस तरह से रोकना है उस तरह वो रोकता है वहां भी रोकते हैं और जो भी दुष्ट हैं उन सबको वो नष्ट करता है उदयति सूर्य ऐसा वो सूर्य प्रकाशमान मेरे हृदय में प्रकाशित हो मेरे हृदय में उस परमात्मा का स्मरण सदैव रहे ऐसे परमात्मा का जो संसार को नष्ट करने वालों की हानि करता है उनको छीन करता है जो सतत हमारी रक्षा करता है जिसकी आज्ञा पालन सदैव हमारा हित करती है तो ये भावना प्रार्थना के रूप में इस मंत्र में रखी गई है और वो परमात्मा हमारे अंदर प्रकाशित हो गए जिससे हमारी अविद्यांधकारता सब नष्ट हो जाए किन्हीं को कुछ पूछना है इसमें रामदेव जी नहीं रहता उसको तो वैसे भी कोई नष्ट नहीं कर सकता कोई इनका प्रश्न है कि प्रलयावस्था में आत्मा रहती है तो वहां तो उसकी कोई हानि कर ही नहीं सकता क्यों नहीं कर सकता नैनम छिंदंती शस्त्राणी ठीक है तो ये बात तो जागृत अवस्था में प्रलय जब नहीं है सृष्टि है तब भी लगती है आपको ये तो स्वीकार्य है कि जब सृष्टि चल रही है उस समय ईश्वर रक्षा करता है लेकिन प्रलय अवस्था में तो आवश्यकता नहीं क्योंकि नैनम छिंदन थी ये तो सृष्टि काल में भी आपसे मैं पूछ सकता हूं क्या सृष्टि काल में नैनम छिंदंती का सिद्धांत नहीं लगेगा फिर वहां भी रक्षा नहीं होनी चाहिए परमात्मा की लेकिन रक्षा होती है स्वरूपतः आत्मा को कोई काट नहीं सकता जला नहीं सकता लेकिन किसी आत्मा का अहित तो कोई कर सकता है उसके साधनों की हानि करके उसके कार्य में बाधा खड़ी करके कर सकता है करते हैं यही आत्मा की हानि है और आत्मा की इस हानि से परमात्मा हमें बचाता है जैसे जगत काल में जब ये चलता है तब बचाता है ऐसे प्रलय में भी बचाता है उसमें अगला प्रश्न फिर आएगा जो आपने रखा है कि वहां हानि की कोई संभावना ही नहीं है यहां तो अन्य प्राणी जो दुष्ट हैं राक्षस हैं वो हमारी हानि कर सकते हैं वहां तो कोई हानि नहीं कर सकता है इसलिए मैंने वहां वो शब्द उस तरह के बोले थे कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें और मुख्य रक्षा हमारे कर्माशय की और हमारे संस्कारों की हमारे कर्माशय की रक्षा करके वो हमारी रक्षा कर रहा है हमारे संस्कारों की रक्षा करके वो हमारी रक्षा कर रहा है हमारे साथ न्याय कर रहा है यथोचित व्यवहार कर रहा है ये रक्षा तो है ही परमात्मा की और महर्षि ने लिखा है प्रलयावस्था में भी आप हमारी रक्षा करो रक्षा करते हो तो रक्षा तो होनी चाहिए वहां पर क्या रक्षा हो सकती है क्या संभावना है वो मेरी जो समझ में है वो मैंने आपके सामने रखा इसके अतिरिक्त कोई रक्षा हो वो भी रखी जा सकती है आपको कोई और सूचता हो कि नहीं परमात्मा की प्रलयावस्था में ये रक्षा भी होती है वो भी स्वीकार्य होगी लेकिन रक्षा तो वो करता है ये शब्द प्रमाण से स्थित है वो रक्षा कैसे करता है ये यहां नहीं लिखा हुआ है ये हम समझ रहे हैं अन्य सिद्धांतों के अनुसार कि कहां कहां किस रूप में परमात्मा की रक्षा वहां हो सकती है वो बात रखी सत्यव्रत जी जो तो ब्राह्मण से पहले का अरे हम कौन को नाश करेंगे हम तो वैसे जो ब्राह्मण है वो उनकी अभिद्या जो विद्या है नाश करने वाली उनका नष्ट करेंगे और ये सारे उनका नाश करने का प्रयत्न करेंगे उसको साथ करेंगे उसके पास ये ईश्वर को साधना करेंगे कभी प्रार्थना नहीं करेंगे इनका ये कहना है कि पिछली जो हमारी चर्चाएं चल रही थी पूर्ण पुरुषार्थ के बाद ही प्रार्थना हो तो क्या ये प्रार्थना हम तभी करें जब पूर्ण पुरुषार्थ हो ठीक है एक तो वो अंश है ही लेकिन जो कामना रूप प्रार्थना है जो हम अपने कर्माशय के अनुरूप चाहते हैं कि मेरे कर्माशय से मेरे को ये सुरक्षा मिले वो प्रार्थना जो हम कर चुके हैं कार्य पुरुषार्थ कर चुके हैं उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं प्रार्थना की एक परिभाषा वो जो पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में सामर्थ्य के उपरांत एक परिभाषा वो और एक प्रार्थना शब्द का प्रयोग कामना के लिए भी के में भी किया जाता है तो वो भी है जो कि सोमदेव जी ने वहां बात रखी थी कि कार्य करते समय कार्य से पूर्व दोषों की निवृत्ति के लिए प्रार्थना बहुत सारी महर्षि ने भी की है तो प्रार्थना को थोड़ा विभाजन करेंगे यहां दोनों बातें सारी तरह की प्रार्थनाएं यहां घट जाएंगी किसी भी तरह की प्रार्थना हो वो सब यहां घटेंगी इसको किसी एक प्रार्थना के साथ सीमित ना करें कि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद ही करें पूर्ण पुरुषार्थ के बाद भी करें वो भी यहां पर घटेगा लेकिन उससे पहले भी हम ये प्रार्थना कर सकते हैं बिल्कुल मान सकते हैं वो मैंने बोला भी था प्रारंभ में कि ईश्वर ने जो प्रार्थना का स्वरूप यहां दिया मंत्रों में इस मंत्र या किसी भी मंत्र में वो सब परोक्ष रूप से परमात्मा की हमारे लिए आज्ञा है कि तुम लोग हे मनुष्यों तुम लोग ऐसी प्रार्थना करो वो जुड़ा हुआ है उसके साथ में इसलिए महर्षि ने खोला कि आपकी उस सत्योक्ति का जो मैंने आचरण किया है वह मेरी रक्षा करें केवल वो सत्योक्ति वेद में रखी है हमारे ज्ञान में है वो रक्षा नहीं करेगी उसकी पालना हमें ये विश्वास बन जाए कि ईश्वर की आज्ञा पालन में ही मेरा हित है ये बहुत बड़ी बात है इसमें हमारी कुछ न कुछ न्यूनता रहती है ये परिपूर्ण हो गया तो वो तो बिल्कुल तर जाएगा इस जीवन से तीसरी बात वो द्यावा में आ गया वो प्रकाशित लोक आ गए उसके भिन्न जितने हैं क्योंकि यहां पर द्यावा च यत्र ततनन अहन अहानी च इसका कथन इस कथन का ये अभिप्राय नहीं है कि दुनिया में सब जगह दिन रात होते हैं ये इस बताने के लिए वाक्य नहीं है ये काव्य की भाषा क्या है कि जहां जहां भी दिन रात होते हो वहां वहां सब जगह मूल उद्देश्य ये बताना है कि सब जगह पे दिन रात चूंकि बहुत व्यापक रूप से लगभग सब जगह होते हैं तो उस सर्वत्रता को बताने के लिए जहां जहां वायु है वहां वहां सब सब जहां जहां जीवन है वहां वहां सब सब उसका यह मतलब नहीं है कि केवल जहां वायु है वहीं तक जहां जीवन है वहीं पर ही संपूर्ण धरती पर ये इसका मतलब है सर्वत्र उस सर्वत्र को अभिव्यक्त किया जा रहा है कि जहां जहां दिन रात होते हैं यानी दिन रात सब जगह होते हैं और द्यावा को इन्होंने अलग किया ही है यहां पर वहां पर जहां प्रकाशमान लोग हैं और जो प्रकाशमान लोग से अतिरिक्त लोग हैं जो स्वप्रकाशित नहीं है वहां सब जगह दिन रात होती है वहां सब जगह तो कौन सी जगह बची वहां भी दिन रात कुछ रूप में तो होगी हमें दिखाई नहीं देता है देखो ब्लैक होल का मतलब क्या ये सो है कि वहां से कोई भी प्रकाश की किरण बाहर नहीं जाती इसलिए हमें वो काला काला दिखता है है वहां पर द्रव्य बहुत अधिक गुरुत्व वाला अत्यधिक घनत्व वाला एक समूह बन जाता है और उसका वेग इतना होता है बल इतना होता है कि प्रकाश की किरण भी प्रकाश की इतनी तीव्र गति भी उसको भेद नहीं पाती और वो उसी में रह जाते हैं हमारे को वहां से कोई प्रकाश की किरण नहीं आ रही है वहां से टकरा के नहीं आ रही है लेकिन वहां पर तो प्रकाश की किरण पहुंच रही है वहां तो पहुंच रही है वहां पहुंच रही है अभी रुकिए और वो घूम भी रहा है वो घूम रहा है तो अगर यहां से प्रकाश की किरण जा रही है तो अभी वो उसके इस भाग में है और वो जब घूम रहा है तो दूसरे भाग में और पीछे वाला भाग भी चला जाएगा दिन रात तो वहां भी हो रहे हैं हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं ये एक अलग बात है आप यूं मत बोलिए कि ब्लैक होल में दिन रात नहीं होते हैं दिन रात वहां भी मानने पड़ेंगे हमें नहीं दिखाई दे रहे हमें तो वो काला ही दिखाई देगा तो सब जगह और इसको इतनी उस तरह से मत लगाइए जैसा मैंने पहले कहा यहां महर्षि का और वेद मंत्र का भाव क्या है सर्वत्र सब जगह को बताने के लिए कहा जो प्रकाशमान लोग हैं वहां और जहां दिन रात होती है दिन रात वहां होती है जो स्व प्रकाशित नहीं है जो लोग स्व प्रकाशित नहीं है वहां दिन रात होती है और जो प्रकाशित है वो द्यावा में आ गए तो यानी सर्वत्र और कौन सी जगह बचेगी सब जगह पे आपकी ये रक्षाएं विद्यमान है इसको इतना ही रखते हैं बस ईश्वर की रक्षा का भाव मंत्र में दिए गए आर्यों के लिए निर्देश का भाव मन में रखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण ओ Oh. शान्तिरन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शांतिराप शान्तिरोषधयः शांति वनस्पत शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शांति शांति शांति शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओ शांति शांति शांति सबको साथ नमस्ते ओम शांति